लाके बैठी धीर भावे बनेरी दिला के बैठी धीर भावे बनेरी हाँ बन रे दाचक खुद शर्मावे बनेरी में दिला के बैठी धीर भावे मैं उजड़ी को